साम वेद के अंतर्गत यह केनोपनिषद साम वेद में एक हजार शाखा सौ से अधिक शाखा है उनमें से दो उपनिषद दस उपनिषद में है उपनिषद आगे छांदोग उपनिषद है ये उपनिषद सामवेद के अंतर्गत तलबकार शाखा के अंतर्गत सामवेद के अंतर्गत होने से आप्यायन तो ममांगानी यहाँ शांति मंत्र है सहना वो तो शांति मंत्र भी इसमें है एक यह केन उपनिषद एक ही उपनिषद जिसमें भगवान भाष्यकार ने दो भाष्य दो बार भाष्य रचना की एक तो जैसे सब उपनिषद में है पद पद व्याख्या पद भाष्य है और एक एक भाग पदभाष्य लिखने के पश्चात भगवान भाष्यकार को संतोष नहीं हुआ पद व्याख्या करने पर भी क्योंकि ये अत्यंत उत्कृष्ट उपनिषद होने पर भी ब्रह्म सूत्र में इसमें कोई विचार नहीं किया गया ये श्रुति के अर्थ को विचार करके निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्र में जितने सब विचार है उनमें केन उपनिषद श्रुति के ऊपर विचार करने के लिए कोई ब्रह्म सूत्र नहीं है इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार ने स्वयं कुछ सूत्र के समान सूत्र है संक्षेप से सूचित अर्थ होता है संग्रह सूत्र संक्षेप से सूत्र से कुछ कह करके फिर उसकी व्याख्या की एक वाक्य जैसे सूत्र में होता है एक वाक्य संग्रह वाक्य फिर उसकी व्याख्या उसका नाम हो जाता है वाक्य भाष्य सब उपनिषद में पद भाष्य है केन उपनिषद में पद भाष्य है किंतु इसमें एक अधिक है वाक्य भाष्य तो ये वो वाक्य भाष्य की रचना के समय में हो सकता है भाष्य प्रारंभ करते समय मंगलाचरण सहनावो तो क्या होगा इसलिए दोनों इसमें आ गए सहनावो तो शांति मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में है सांवेदिकता आप्यायन तो है तो भी दोनों उपलब्ध होते हैं ओम आप्यायंत ममांगानी वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिंद्रिया च सर्वाणी सर्व ब्रह्म उपनिषद माहम ब्रह्म निराकुरियाम मामा ब्रह्म निराकोद निराकरणमस्व निराकरण मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति परम ब्रह्म का वाचक प्रतीक है ओंकार उसके पाठ पूर्वक ही मंत्र का पाठ होता है ओम भगवान से प्रार्थना करते हैं मम अंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथ बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु पेइंग आप्यायने ओप्यायी धातु है पेइंग धातु है ओप्यायी धातु है तो वृद्धि अर्थ के तृतीय अर्थ के मम अंगान मेरे अंग पुष्ट हो अंग है जो श्रवण करने के लिए ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र सौ वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम बल भी और बाकी सब इंद्रिय भी पुष्ट हो सर्व ब्रह्म औपनिषदम सब कुछ ब्रह्म है जो औपनिषदम उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य सब कुछ औपनिषद ब्रह्म है अहम ब्रह्म न मान निराकुर्याम ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं ब्रह्म ही सब कुछ है उसका निराकरण है उसको छोड़ करके अन्य में सत्यत्व बुद्धि करना ब्रह्म ही सब कुछ है उसका निराकरण नहीं करो सर्वत्र कुछ भी देखते समय ब्रह्म का ही देखता हूँ ब्रह्म का ही दर्शन करूँ निराकरण तिरस्कार नहीं करूँ मामा ब्रह्म निराकरोत ब्रह्म परमात्मा भी मेरा निराकरण नहीं करे सर्वम ब्रह्म होने से कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं तो मैं ही भी ब्रह्म हूँ निराकरण होता उसको मेरे से भिन्न समझे ब्रह्म और मैं दोनों में एकत्व तो है निराकरण नहीं का अर्थ दोनों में परस्पर अभेद ऐसा रहे भेद भावना नहीं हो माँ माँ ब्रह्म निराकरण तो मेरे भी ब्रह्म निराकरण नहीं करे निराकरण नहीं करे परमात्मा मेरे भी निराकरण का था मेरे भिन्न मेरे बुद्धि में आओ तो परमात्मा का निराकरण होगा बुद्धि में ऐसा हो हमेशा अभेद चिंतन हो अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम मे अस्तु अनिराकरणम पुनः उसी को ही अनिराकरणम मम अस्तु तदात्मनि निरते यह उपनिषद धर्मा उस आत्मा में नितराम रमण करते हुए ये उपनिषद धर्म ते मई संतु उपनिषद में कहे गए जो धर्म है समदम आदि साधक के धर्म उस धर्म से मेरे में हो प्रार्थना करते समदम आदि धर्म भी मेरे में हो ते मई संतु ओम शांति शांति शांति तीन बार शांति है त्रिविध ताप निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ताप निवृत्ति के लिए प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए तीन बार शांति आनंदगीर स्वामी टीकाकार टीका आरंभ करते समय मंगलाचरण करते हैं यक्षोत्रादिरधिष्ठानं चक्षुर्भागाद्यगोचरं परम परं ब्रह्म नित्यमुक्तं भवामि तं तत् यक्षोत्रादिरधिष्ठानं श्रोत्रादि का जो अधिष्ठान है एक ही तत्व है सब इंद्रियादि का सब का अधिष्ठान ब्रह्म है चक्षुर्वागादि अगुचरम श्रोत्रादि का अधिष्ठान है वो चक्षुरादि इंद्रिय का विषय नहीं वाघ आदि शब्द का भी विषय नहीं किसी भी इंद्रिय का प्रमाण का विषय नहीं अगुचरम सत्व अध्यक्षम स्वतः अपरुच रूप है प्रमाण के बिना परम ब्रह्म तत् नित्य मुक्तम भवामी तद ब्रह्म नित्य मुक्तम अहम भवामी मैं वही हूँ अभेद अनुसंधान ही मंगलाचरण है केनेशितम इत्यादि काम तलवकार शाखोपनिषदम व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार वहम प्रत्यय गोचर से आत्मन संसारित्वाद असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्यस्याम भवा असंभवान निर्विषयत्वाद अव्याख्येयत्वम इत्याशंक्या अहंकार साक्षिण संसारित्व ग्राहक प्रमाणा विषयत्वाद ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोधासंभवात् सविषयत्वाद व्याख्येत्वम प्रतिजानीते केनेशितम इत्यादि काम तलवकार शाखा उपनिषदम केनेशितम इत्यादि यस्या उपनिषद सा उपनिषद केनेशितम इत्यादि का ताम तलवकार शाखायाम स्थिता उपनिषद तलवकार शाखा उपनिषद ताम उपनिषद स्त्रीलिंग है कि उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या तलवकार शाखा में स्थित उपनिषदम व्याचिख्यासु हो व्याख्या इच्छु व्याख्यान करना चाहते हुए भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार आगे प्रति जानीते व्याख्येतम प्रति जानीते भगवान भाष्यकार ये उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं व्याख्येतम प्रति जानीते व्याख्या यह उपनिषद है ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा प्रतिज्ञा करने व्याख्यायत्व तो प्रतिज्ञा करने का अभिप्राय क्या है वो शंका करते इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए इसलिए व्याख्या तो प्रतिज्ञा करते हैं अब व्याख्या नहीं है व्याख्या है जो शंका करते व्याख्यान नहीं करना चाहिए शंका का मूल कारण क्या है उनका अभिप्राय अहम प्रत्यय गोचर से आत्मन संसारित्वाद अहम ऐसा जो ज्ञान होता है यही तो आत्मा है अहम प्रत्यय ज्ञान उसका विषय है जो आत्मा वही तो सुखी दुखी संसारी जन्म मरण वाला है अहम सुखी अहम दुखी यही ज्ञान होता है प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में अहम ऐसे ज्ञान आत्म विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं जो अहम आत्मा है अहम प्रत्यय का विषय है अहम ऐसे ज्ञान का विषय आत्मा वही अहम सुखी अहम दुखी मैं सुखी दुखी हूँ यही संसारी है तो अहम प्रत्यय गोचर आत्मा संसारी है ये संसारी है तो आत्मा में अहम प्रत्यय गोचर आत्मा में असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य से असंभवात प्रत्यक्ष जब आत्मा में संसारी तो अनुभव होता है उसे आत्मा में असंसारी ब्रह्म भाव जो कि उपनिषद प्रतिपाद्य वो तो हो नहीं सकता है हेतु है संसारित्वात् अहम प्रत्यय का विषय आत्मा संसारी होने से उसमें असंसारित्व तो असंभवात असंसारित्व तो का असंसारी ब्रह्म भावस्य असंसारी ब्रह्म भावस्य असंभवात असंसारी ब्रह्म भाव असंसारी जो ब्रह्म तद्भाव ब्रह्मत्वम असंसारी ब्रह्मत्वम असंसारी ब्रह्म रूपत्व अहम प्रत्यय विषय जो आत्मा उसमें असंसारी ब्रह्म स्वरूपत्व नहीं हो सकता है असंसारी ब्रह्म कैसे होगा वो तो संसारी है प्रत्यक्ष अनुभवता अहम सुखी दुखी अहम संसारी आत्मा में संसारी तो होने से उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य होता है ब्रह्म असंसारी ब्रह्म भाव असंसारी जो ब्रह्म तद भिन्न तद अभिन्न है आत्मा असंसारी ब्रह्म भाव जो उपनिषद प्रतिपाद्य वो तो अहम प्रत्यय विषय आत्मा में संभव नहीं है अहम प्रत्यय गोचर से आत्मा न असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य असंभवात संसारी होने के कारण उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो असंसारी ब्रह्म भाव असंसारी ब्रह्म रूपत्व आत्मा में असंसारी ब्रह्म अभिनत्व ये हो नहीं सकता है ब्रह्म तो असंसारी है किंतु उससे आत्मा में असंसारी तो कैसे होगा आत्मा तो संसारी है संसारी होने से असंसारी ब्रह्म भाव असंसार ब्रह्म अभिन्नत्व जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य वो संभव नहीं है यदि संभव नहीं तो फिर और क्या विषय रहा यही तो उपनिषद का विषय वेदांति कहते हैं जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा वही असंसार ब्रह्म अभिन्न वो यदि संभव नहीं हो सकता है अन्य कोई विषय नहीं निर्विषय हो गया उपनिषद विषय रहित तो हो जाने से जिसका कोई विषय ही नहीं है ऐसे उपनिषद की व्याख्या नहीं करनी चाहिए अव्याख्यत्व अव्याख्या उपनिषद तो उसमें अव्याख्यत्व की शंका करके अव्याख्यत्व इति आशंक्य उपनिषद की व्याख्या नहीं करनी चाहिए थी शंका होने पर सिद्धांति का अभिप्राय अहंकार साक्षिण संसारित्व ग्राहक प्रमाण आविषयत्वाद जो अहम ज्ञान का विषय को कहते संसारी तो वास्तव अहम ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है अहम इसे अहंकार अहम जो बुद्धि अहंकार होती है अहंकार होता है वृत्ति होती है उसका साक्षी है आत्मा अहम वृत्ति का जो साक्षी है अहंकार का साक्षी ब्रह्म है वो अहंकार के साक्षी का ही ब्रह्मत्व तो उपनिषद के द्वारा कहा गया तो उसमें अहंकार के साक्षी में संसारित्व ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है अहं ज्ञान का विषय जो आत्मा सब उपाधि का आत्मा सब देहादि उपाधि को ले करके अहम बुद्धि का विषय अहंकार का साक्षी जो है वह संसारी नहीं उसमें संसारित्व का ग्राहक ग्राहक है ज्ञान जनक ग्रह जनक संसारित्व का ज्ञान होने के लिए कोई प्रमाण हो तभी तो संसारित्व तो सिद्ध होगा अहंकार साक्षी में संसारित्व तो ग्राहक प्रमाण नहीं प्रमाण अविषयत्वात् क्योंकि अहंकार का साक्षी कोई प्रमाण का विषय नहीं है अन्य सब तो प्रमाण का विषय है अहंकार का विषय है जो अलग है अहंकार का जो साक्षी है बुद्धि का जो साक्षी वो बुद्धि का विषय नहीं है बुद्धि को प्रकाश करने वाले अहंकार को प्रकाश करने वाले अहंकार के द्वारा प्रकाशित तो नहीं होता है प्रमाण का विषय नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किसी प्रमाण का विषय नहीं अहंकार साक्षी उसमें फिर संसारित्व ग्राहक अहंकार का साक्षी में संसारित्व उसको ज्ञान कराने वाले कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण अविषयत्वात् इसलिए जो अहंकार का साक्षी उसमें असंसारी ब्रह्म भाव उपनिषद प्रतिपाद्य ये विषय संभव है ब्रह्म तो प्रतिपादन विरुद्धासमवाद अहंकार का विषय अहम प्रत्यय का विषय में संसारित्व अनुभव होता है किंतु अहंकार का साक्ष्य में संसारित्व ग्राह ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होने से उसमें असंसारी ब्रह्मत्व तो प्रतिपादन करेंगे तो कोई विरोध नहीं है जिसमें संसारित्व अनुभव आता है प्रत्यक्ष से अहम सुखी दुखी उसमें ब्रह्म असंसारी ब्रह्म भाव उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं है उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म भाव अहंकार साक्षी में अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ एक होता वाच्यार्थ अहम मनुष्य अहम पश्यामी सोचामी इस अहम प्रत्यय के विशेष शरीर में इंद्रिय में मन में ये सब होता है किंतु अहम प्रत्यय अहंकार का जो साक्षी है जो अहम शब्द का त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म से अभिन्न उसमें ब्रह्म तो प्रतिपादन करने में कोई विरोध नहीं है विरोध तो जहाँ संसारित्व है वहाँ असंसारित्व नहीं होगा संसारित्व तो था बुद्धि के विषय में अहम प्रत्यय के विषय में किंतु अहम प्रत्यय के साक्षी में संसारित्व प्रतिपादक को कोई प्रमाण नहीं है संसारित्व ग्राहक तो ब्रह्म तो प्रतिपादन से करने में कोई विरोध संभव नहीं इसलिए उपनिषद का विषय है अहंकार साक्षी अभिन्न ब्रह्म जीव अभिन्न ब्रह्म जो कहते हैं जीव शब्द का लक्ष्यार्थ लेना वाच्यार्थ के साथ ब्रह्म अभिन्नत्व श्रुति प्रतिपाद्य नहीं है लक्ष्यार्थ में एकत्व तो लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चैतन्य साक्षी रूप तो इस विषय होने से ये उपनिषद व्याख्यय उपनिषद तो की प्रतिज्ञा करते भगवान भाष्यकार भाष्य में केन सितम इत्याद्यो उपनिषद परब्रह्म विषय वक्तव्येति नवम से अध्याय से आरंभ केन सितम ये मंत्र पहले प्रारंभ होगा केन सितम इति आद्या यस्या उपनिषद सा उपनिषद केन सितम इत्याद्या केन सितम इति आद्य है जिसमें ऐसा जो उपनिषद के निश्चितम इत्याद्य पहला मंत्र है के निश्चितम परब्रह्म विषय ये उपनिषद परब्रह्म को विषय करने वाले परब्रह्म विषय यस्या उपनिषद सा उपनिषद परब्रह्म विषया यही के निश्चित उपनिषद वक्तव्या कहने के लिए इति नवम से अध्याय से आरंभ वेद में पहले कर्मकांड उपासना है आगे ज्ञान कांड उपनिषद है यह उपनिषद नवम अध्याय में आया इसके पहले आठ अध्याय कर्मकांड पूरा हो गया तो ये ब्रह्म विषय उपनिषद कहने के लिए वेद में सामवेद में तलवकर शाखा में नवम अध्याय का आरंभ किया जाता है किया गया टीका में कस्तरे नवम अध्याय से अष्टाध्याया सह नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य संबंध आशंक्य हेतु हेतु मत भाव लक्षण संबंधम दर्शयितुम वृत्तम अनुवदति प्राग तस्मात् इत्यादि ये नवम अध्याय में उपनिषद है केन उपनिषद इसके पहले कितने अध्याय हो गए अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्याय नाम समाह अष्टाध्यायी नवम से अध्याय से अष्टाध्याया सह अष्टाध्यायी के साथ जैसे व्याकरण में अष्टाध्यायी है इसमें भी इसके पहले आठ अध्याय वेद में है वो अष्टाध्यायी है तो कर्मकांड अष्टाध्यायी के साथ ये नवम अध्याय का कोई संबंध होना चाहिए तो ग्रंथ में एक अध्याय दूसरा अध्याय तृतीय अध्याय होता है आगे कुछ कहते हैं तो उसके साथ पूर्व के साथ संबंध होना चाहिए बिना संबंध कुछ कहे तो उसको कहते असंबंध प्रलाप कुछ कहते हठात तो कोई दूसरे विषय कहने लगे लोग सोचिए क्या दूसरे कहने क्या कहते रहिए कोई प्रसन्न चल रहा है ऐसा ये वेद में तो ऐसा नहीं हो सकता है प्रामाणिक व्यक्ति विषय नहीं कहते कुछ अप्रामाणिक बहुत बोलने वाले कुछ कहते कहते फिर दूसरे कुछ बोलने लगे सब लोग सोचते क्या इसके साथ संबंध तो यहाँ वेद में अवश्य कोई संबंध होना चाहिए अष्टाध्यायी के साथ नवम का नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य संबंध संबंध है कैसे पता चलेगा अष्टाध्यायी ग्रंथ है कर्मकांड आगे ज्ञानकांड इसके साथ संबंध भूतल में घट है तो संबंध दिखता है वेद उपनिषद शब्दात्मक है पूर्व आठ अध्याय का संबंध दिखता नहीं तो संबंध कैसे निश्चय होगा संबंध का निश्चय होता है प्रत्यक्ष जिस प्रकार प्रमाण है ऐसा अन्य प्रमाण भी है कुछ अनुमान प्रमाण से निश्चय होता है प्रत्यक्ष नहीं देखने पर भी पर्वत में विशेष धूम को देख करके वन निश्चय कर लेते हैं पर्वत हो कहीं गांव में हो घर में हो ऐसे जोर से धूम निकलता है तो वन्य निश्चय करते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा इसी प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण है जिसको कहते अन्यथा अनुपपत्ति अन्यथा का तो अन्य प्रकार न अनुपपत्ति अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है तो ही मानना पड़ेगा दिवा हुंजानस्य पीनत्वम मोटा तगड़ा है दिन में नहीं खाता है रात्रि भोजन बिना दिवा अभुंजान से पिनत्वम अनुपपन्नम अन्यथा अनुपपन्न अन्यथा रात्रि भोजन के बिना अन्य प्रकार न रात्रि भोजन के बिना दिन में नहीं खाता है इतने मोटा तगड़ा कैसे होगा मोटा तगड़ा दिखता है दिन भर नहीं खाता है तो रात्रि भोजन के बिना ये संभव नहीं तो रात्रि भोजन कल्पना हो का रात्रि भोजन की कल्पना होती है निश्चय हो जाता है ये भी एक प्रमाण है और तापति अर्थापत्ति है अन्यथा अनुपपत्ति अन्य प्रकार न संभव नहीं है रात्रि भोजन के बिना अन्यथा का था रात्रि भोजन के बिना दीवा हुंजान से पीनत्वम दीवा नहीं खाता है मोटा अब नहीं संभव नहीं अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से जिस रात्रि भोजन कल्पना करते हैं और कोई व्यक्ति जन्म पत्रिका दे करके निश्चय किया गया 100 वर्ष जीवित है अभी दस बीस पच्चीस साल है वो व्यक्ति कहाँ चला गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका सौ वर्ष जीवित है घर में नहीं रहा तो मर गया सौ वर्ष जीवित है तो घर में नहीं तो कहीं चला गया हिमालय ऋषिकेश भाग गया बाहर कहीं है जीवित है सौ वर्ष जीविक गृह सत्वम वही सत्वम विनानुपन्नम बाहर नहीं रहेगा कहीं तो सौ वर्ष जीवित व्यक्ति घर में कैसे नहीं रहेगा घर में नहीं तो बाहर ये निश्चय हो जाता है सौ वर्ष जीवित मतलब बाहर लोग सोते ज्योतिष को बताते माता पिता रोते कहते नहीं नहीं चिंता नहीं करो बचा है मरा नहीं मरेगा नहीं अभी सौ वर्ष जीवित है तो निश्चय हो जाता है ज्योतिष शास्त्र ठीक होने पर समय के अनुसार आयु निश्चय हो कर लेते हैं ये अर्थापत्ति प्रमाण से जैसे रात्रि भोजन की कल्पना होती है यहाँ भी नियत पूर्वतर भाव अनुपपत्ति लभ्य नियत पूर्वतर भाव पहले कर्मकांड आगे उपनिषद ज्ञानकांड नियत अवश्य भावी जो पूर्वोत्तर भाव पूर्वोत्तरत्वम पूर्वत्वम कर्मकांड में उत्तरत्वम ज्ञानकांड में ये अनुपपत्ति कोई संबंध के बिना ऐसा नहीं होगा कोई संबंध होना चाहिए तब कर्म कांड पहले ज्ञान कांड बाद में तो कोई संबंध के बिना अन्यथा का तो कोई संबंध के बिना नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति अर्थापत्ति अवश्य जो पूर्वोत्तर भाव पूर्वोत्तम उत्तरत्वम कर्म कांड में नियत पूर्वत्वम और ज्ञान कांड में उत्तरत्वम ये अन्यथा अनुपपत्ति कोई संबंध के बिना नहीं हो सकता है ये अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से लब्ध होता है संबंध अनुपपत्ति लभ्य संबंध संबंध कोई है ऐसा संबंध नहीं होगा तो पूर्वोत्तर भाव नियत नहीं होना चाहिए तो ये जो संबंध प्राप्त होता है अर्थापति प्रमाण से सिद्ध होता है वो संबंध कह कस्तरी संबंध नवम से नवमस्य अष्टाध्याय कस्तरी संबंध प्रश्न वाक्य अन्वय कस तरीका अन्वय संबंध के साथ संबंध कह अनियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपद्रव्य संबंध कह इति आशंक्य ऐसा आशंका करके यहाँ तो शंका भी अस्य नवमस्य अध्यायस्य अष्टाध्यायस कह संबंध यह संबंध नियत पुरोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य पुरोत्तर भाव अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से शब्द लब्ध तो सब सिद्ध होता है जो संबंध वो संबंध क्या है इति आशंक्य हेतु हेतु मत भाव लक्षण संबंधम दर्शयितुम ये दिखाने के लिए हेतु हेतु मत भाव लक्षण संबंध एक हेतु और एक हेतु मत भाव तस्य भाव तलौ भाव में त्व प्रत्यय होता है तल प्रत्यय होता है तो हेतु हेतु भाव का हेतु हेतु मतत्वम तो भाव का हेतु के साथ भी जोड़ संबंध हो जाए हेतु भाव हेतु मत भाव हेतुत्वम हेतुमत्वम हेतुत्वम तर कारणत्व हेतुमत्व है कार्यत्व हेतुमत हेतु भाव और हेतुमत भाव हेतुमत भाव हेतु भाव हेतुत्वम अष्टाध्यायी में और हेतुमत्वम नवम अध्याय में हेतु हेतुमत भाव संबंध कार्य कारण भाव संबंध अष्टाध्यायी हेतु हेतु है और नवम अध्याय ज्ञान कांड हेतु मत हेतु है कारण जिसका है वो हेतु मत हेतु मत का कार्य हेतु है कारण कार्य कारण भाव संबंध ये दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार पहले वृत्तम अनुवदति ये अतीत का कथन करते अतीत का कथन क्यों करते हैं इसलिए ये दिखाना चाहिए दिखाना चाहते हैं पूर्व कांड के साथ पूर्व अष्टाध्याय के साथ इस उपनिषद का हेतु हेतु मद भाव संबंध है इसको दिखाने के वृत्तम अनुवदति वृत्तम अतीतम आठ अध्याय में जो कहा गया उसको अनुवाद कर रहे भगवान भाष्यकार वेद पढ़ने वाले तो जानते आठ अध्याय में क्या है यहाँ उपनिषद व्याख्या करते समय उसका अनुवाद करते ये पहले कहा गया प्राग तस्मात् कर्माणि अशेषत परिसमापितानि समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासनान्युक्तानि कर्मांग साम विषयाणि च प्राग तस्मात् अध्यायात नव अध्याय के पहले कर्माणि परिसमापितानि अशेषत सारे कर्म कहे गए कर्माणि अशेषत परिसमापितानि कर्म कह गए आठ अध्याय में समस्त कर्माश्रय भूत से प्राण से उपासना नियुक्तानि सारे कर्म का आश्रय है प्राण प्राण में आश्रित होकर के कर्म किया जाता है व्यापार चेष्टा होती है एतस्मात् प्राक नवम अध्याय के पहले सारे कर्म भी कहे गए और प्राण के उपासना ने भी कहेगी प्राण से उपासना नहीं उक्ता नहीं समस्त कर्म आश्रयभूत सारे कर्म का आश्रयभूत जो प्राण उसकी उपासना नहीं च उक्ता नहीं आश्रयभूत से च च कर्माणि अशेषत परिसमापितानि प्राण से उपासना नहीं च नहीं कर्म से कहे गए संपूर्ण और कर्म के आश्रय हो तो प्राण हिरण्य गर्भ उपासना भी कहे गए उक्तानी और कर्मांग साम विषयाणी च प्राण उपासना कहे गए और कर्मांग साम विषयाणी उपासनानी कर्म के अंग साम को विषय करने वाले जो उपासना कर्म अनुष्ठान करते समय मंत्र गान करना होता है कहीं साम रूप का गान किया जाता है तो साम है कर्म का अंग कर्म अनुसार करते समय कर्म के अंग होते हैं देवता मंत्र द्रव्य आदि सब अंग है कर्म के अंग कर्म अंग साम विषय उपासना भी कही गई कुछ उपासना कर्मांग संबद्ध कर्मांग अवबद्ध उपासना कर्म करते समय मंत्र बोल करके उस समय उपासना करना होता है कर्म अंग में ही उपासना की जाती है कर्म के अंग शाम उसी शाम को विषय करने वाले उपासना कर्म के अंग शाम है टीका में दिया कर्मांग शाम पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकम च शाम का एक एक भाग भज धातु तो से घय करेंगे तो भाग बनता है तीन करेंगे स्त्रियांक तीन तो क्या बन जाएगा भक्ति ये भक्ति भाग एक अर्थ के तो कर्मांग साप पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकम पांच भक्ति वाले पांच भाग वाले सप्तभौतिकम भौतिकम सप्त साप्त करके सात भाग वाले पांच भाग वाले एक के भाग का नाम पांच भक्ति के पहले हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार निधनम कितने हो हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार निधनम पांच भाग वाले साम है और सात भाग वाले साम है हिंकार प्रस्ताव दो बराबर है उद्गित के पहले एक आदि नाम का भाग है आदि आदि उद्गित बीच में है प्रतिहार है उसके बाद प्रतिहार के बाद उपद्रव उपद्रव और एक निधनम प्रत्याहार निधन तो पहले था पांच की अपेक्षा सप्त भक्ति होने में दो भाग अलग हो गए आदि उपद्रव हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार निधनम पांच हिंकार प्रस्ताव आदि उद्गित प्रतिहार उपद्रव निधनम सात ऐसे सात भाग वाले साम कर्म के अंग पांच भक्ति के साम साप्त भक्ति का साम तद विषयानि उपासनानि तो उसको विषय करने वाले उपासना गए साम को विषय करने वाले उपासना किस प्रकार पृथ्वी आदि दृष्टिया उसे पृथ्वी आदि दृष्टि करके लोक दृष्टि करके कर्मांग की उपासना है कर्मांग है साम उनकी उपासना पृथ्वी आदि लोक दृष्टि करके लोक दृष्टिया उपासनम ये कही गई है प्राण दृष्टिया गायत्र साम उपासनम च गायत्र नाम का साम साम का अलग नाम है ये तो भक्ति भाग वाले पांच हुआ और साम का गायत्र अर्थंतर आदि अलग-अलग साम है तो गायत्र साम का उपासना प्राण दृष्टि से ये भी उपासना कहा गया इसके पहले अर्थात ये नवम अध्याय केन उपनिषद ज्ञान कांड है ब्रह्म विद्या है इसके पहले सारे कर्म प्राण उपासना और कर्मांग साम के उपासना पांच भौतिक साप्त भौतिक यह सब लोक आदि दृष्टि से उपासना और सब गायत्री साम उपासना प्राण दृष्टि से ये सब कहे गए पहले तो अभी ज्ञान कांड कहते हैं शिष्याचार्य संतान अविच्छेद वंश इतना पहले भाष्य में अनंतरम च गायत्र साम विषय दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम सर्वमेतत् यथोक्तम कर्म च ज्ञान च सम्यक अनुष्ठितम निष्काम से मुमुक्ष सत्वशुद्ध्यर्थम शुद्ध्यर्थम अनंतरम च कर्मांग विषय साम उपासना कहेगी उसके बाद गायत्र साम विषय दर्शनम दर्शन का अर्थ तो उपासना दर्शन है ज्ञान यहाँ ज्ञान है उपासना गायत्र शाम को विषय करने वाले उपासना गायत्र शाम प्राण दृष्टि करने के लिए वो भी कहा गया वंशांतम उक्तम कार्यम वंश अंत्यस्य तद वंशांतम वंश अंत में अंत में वंश कहा गया वंश दो प्रकार है जन्मना विद्यया जन्म से पिता पुत्र वंश है और विद्या से भी वंश है गुरु से शिष्य शिष्य से उसके शिष्य उसके शिष्य क्रम से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है तो ये वंश है टीका में अर्थ क्या शिष्याचार्य संतान अविच्छेदो वंश तब तद अवसान न ग्रंथे न कार्य रूप में वस्तु उत्तम छेद शिष्याचार्य संतान अविच्छेद शिष्य आचार्य का जो संतान प्रवाह आचार्य से शिष्य को प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती शिष्य फिर अपने शिष्य को फिर अपने शिष्य को इसी क्रम से ही ब्रह्म विद्या का प्रवाह उसका विच्छेद नहीं होना चलते रहता है तभी ज्ञानी के उप, उपदेश से ही ज्ञान प्राप्त होता है वही ये आचार्य शिष्य परंपरा से जो प्रवाह चलता है उसका नाम वंश तद अवसान न ग्रंथ है ना ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के बाद अथ वंश कह करके आचार्यों का नाम आता है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए अंग है जिस क्रम से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई वो ऋषियों का आचार्य आचार्य का आचार्य उनके आचार्य उनका नाम स्मरण उनका चिंतन ध्यान ब्रह्म ज्ञान का हेतु है इसलिए उपनिषद में भी उपनिषद कथन करके अथवा वंश कह करके वंश जैसे वंश में एक एक ग्रंथि भिन्न भिन्न है इसी प्रकार शिष्य उनके आचार्य उनके आचार्य उनके आचार्य ये सब वंश अंत में कहा गया तद अवसान न वंश जिसे अंत में हो इसी ग्रंथ के द्वारा सब कहा गया कर्म उपासना कहे गई भाष्य में कहा वंशांत मुक्तम कार्यम वंशांत जो कहा गया सो कार्य ही कहेगी कार्यात्मक ब्रह्मलोक तो प्राप्ति जितने कर्म उपासना सब कार्य रूपमय वस्तुक्तम चेतरी प्राणादि उपासना सहित से कर्म न संसार फलत्वाद ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात कथम हेतु हेतु मत भाव संबंध अविदित इत आशंक्य यदि इसके पहले जो सब कर्म उपासना कहेंगे और सब कार्य रूप ही है कर्म उपासना सो उनका फल कार्य यदि कहेंगे तो प्राण आदि उपासना सहित से कर्म संसार फलत्वाद कर्म पहले कहा गया प्राण उपासना भी कहा गया सब का फल संसार है कार्य रूप ही है तो प्राण आदि हिरण्यकर उपासना के सहित कर्म करे तो भी उसका फल संसार होगा यदि संसारी फल होगा ब्रह्म ज्ञान में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ पूर्व का कर्मकांड उपासना हेतु अभिज्ञान कांड हेतु मत ये कैसे बनेगा कारण कैसे बनेगा प्राणादि उपासना कर्म हिरण्य कर्म करेंगे हिरण्य कर उपासना करेंगे सब करने पर भी जो फल मिलेगा वो संसार ही फल मिलेगा ब्रह्मलोक प्राप्ति तक फल है वह संसार के अंतर्गत है संसार के अंतर्गत फल मिला तो ब्रह्म ज्ञान में तो उपयोग नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान के साथ कोई संबंध ही नहीं रहा तो हेतु कैसे होगा ब्रह्म ज्ञान का हेतु हेतु तो भाव लक्षण कैसे बनेगा वो तो संसार फल को हो गया सब कर्म उपासना श्रेष्ठ प्राणादि उपासना सहित तो कर्म सब संसार फल संसार फलम यस्य कर्मण उपासना सहित तो कर्म संसार फल हो गया ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान में उपयोग नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है कथम हेतु हेतु मत भाव संबंध अविदित तो फिर अष्टाध्यायी पूर्व कर्म कांड उपासना के साथ नवम अध्याय ज्ञान कांड का जो हेतु हेतु मत भाव संबंध अभिदित अभिधातुमिष्ट कहना चाहते अभिदित जो अभिधातुमिष्ट वह कैसे संभव होगा हेतु हेतु मत भाव संबंध कैसे होगा इत आशंक्य नित्य कर्मणाम तावज ज्ञान उपयोगितम कथयति कर्म का उपयोग ज्ञान में है यद्यपि कर्म सब का कामना से करेंगे तो फल प्राप्ति होती है किंतु निष्काम कर्म अनुष्ठान करने पर सब ज्ञान का साधन है सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुति रसवत इसे ब्रह्मसूत्र में कहा गया सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा सब कर्म की आवश्यकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए मोक्ष का साधन कर्म नहीं ज्ञान है तो ब्रह्म सूत्र में विचार है मोक्ष का साधन यदि कर्म नहीं तो कर्म साधन नहीं तो ज्ञान का भी साधन नहीं होगा तो सिद्धांत ने कहा मोक्ष का साधन नहीं किंतु ज्ञान का साधन हो सकता है अश्वत जैसे अश्व है हल खींचने के लिए साधन नहीं है किंतु अर्थ खींचने के लिए जिस घोड़े से खेत खेत में हल खींच नहीं सकते उसके द्वारा रथ खींच सकते हैं इसी प्रकार ये कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन हो सकता है पहले नित्य कर्म ज्ञान का उपयोग है ये पहले बताते हैं भगवान भाष्यकार नित्य कर्मणम तावज ज्ञान उपयोगित्व कथयती सर्वेत यथोक्त कर्म च ज्ञान सम्यक अनुष्ठित निष्काम से मुमुक्षो सत्वशुद्ध्यर्थम होती सर्वमेतत यथोक्तम इसके पहले आठ अध्याय में जो कहे गए सर्वेत यथोक्तम क्या कहा गया कर्म च ज्ञान च कर्म सब कर्म कहे गए और ज्ञान ज्ञान का तो उपासना ज्ञान तो आगे ब्रह्म ज्ञान आगे कहेंगे उपासना कहेंगे सम्यक अनुष्ठितम कर्म उपासना कहेंगे किंतु सम्यक अनुष्ठान करने पर ठीक ठीक सम्यक अनुष्ठितम कर्म भी ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर फल मिलता है उपासना भी सम्यक अनुष्ठितम निष्काम से मुमुक्ष सत्व शुद्ध्यर्थम भवती जो मुमुक्ष है वो मोक्ष चाहेगा मोक्ष से अतिरिक्त और क्या चाहेगा कुछ भी नहीं चाहता तो निष्काम अन्य कुछ नहीं चाहता है निष्काम ही मुमुक्ष हो सकता है और मुमुक्ष हो तो निष्काम होना चाहिए तो मोक्ष की इच्छा है तो अन्य इच्छा का त्याग करना है अनादि वासना से मन में बहुत इच्छा हो जाती है विचार नहीं करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए मुक्ति के लिए आते हैं फिर बीच में कुछ कुछ ना कुछ इच्छा कहीं कहीं कुछ हो जाती है उसे सावधान रहना चाहिए हमेशा ये वासना अनादिकाल से ऊपर ऊपर से लगता है कुछ इच्छा नहीं सूक्ष्म रूप से है कभी कोई इच्छा प्रबल होकर के कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा देती है मुमुक्ष को हमेशा ये निष्काम होना चाहिए अन्य विषय की इच्छा प्रवाह रूप से जैसे जल में तरंग होते ही ये मन में थोड़े समय में प्रमाद करे इच्छाओं का तरंग छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े प्रवाह कुछ इच्छा नहीं करे बैठ जाते हैं ध्यान करना है ध्यान भगवान ही क्या लगेगा वो तरंग इतने बड़े बड़े उस तरंग के साथ बह जाता है कभी कभी मनोराज्य करते कुछ मिलता नहीं है बहुत लोगों मिलता कुछ मनोराज्य करके कुछ नहीं किंतु सोचते सोचते इसे क्या ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता होना कुछ नहीं ऐसे हो जाता कोई महात्मा देखकर पर्वतों को देखता रहे क्या है हम सोचते पर्वत कभी टूट जाता एकदम चूर्ण हो जाता और मैं पहले देखता कभी देखते चंद्र को चंद्र कभी दो टुकड़ा होकर एक टुकड़ा इधर आ जाता एक टुकड़ा उधर चल जाता कुछ होने वाला नहीं किंतु सोचते हैं बेक मगा भी कभी सोता है थोड़े आटा बची गया सोता है आगे गाय रखेंगे दूध बिक्री करेंगे रुपया हो जाएगा मकान बनाएंगे शादी करेंगे बच्चे हो जाएंगे ऐसा करते करते कितने कल्पना कर लेता है अंत में फिर थापड़ लगाता है <laughs> बच्चे को वो आटा भी ऊपर गिर जाता है कभी-कभी ऐसे ही मनोराज्य भी बहुत लोग करते हैं और कभी ऐसे ही कुछ ना कुछ चाहते हैं जो आपके प्रारब्ध में है इच्छा नहीं करो तो मिलेगा क्या प्रारब्ध में तो इच्छा नहीं करने पर मिलेगा और प्रारब्ध नहीं तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगा जिस दिन भूखे रहने का है उस दिन तो बड़े-बड़े संपन्न व्यक्ति भी सब कुछ है धन संपत्ति भी भोजन भी सामने है बिना कोई कारण बन जाएगा नहीं खाएंगे कुछ नहीं हो तो घुसा होकर नहीं खाएंगे ऐसा क्यों ऐसे रख दिया भोजन ऐसे डाल दिया हमको भोजन खिलाते समय कोई थोड़े रोटी को ऊपर से रख दिया तो लोग हमको फेंक कर रोटी खिला कुत्ते को जैसे खिलाते नहीं खाएंगे माता लोग तो बर्तन में लगा कर देने पर घर ऐसे लगा कर देंगे बस प्रेम से हाथ भी लगे कोई आपत्ति नहीं लगा कर देना और यदि इसे डाल दिया तो बोले कुत्ते को जैसे खिलाते इसे रोटी देते समय बड़े प्रेम से ये थाली है थाली में इसे लगा करके रखेंगे <laughs> उस हाथ से फिर रसोई घर में जाकर फिर दूसरे भोजन लाएंगे दूसरे के लाएंगे ऐसे समय आने पर भूखे रह जाते हैं बिना कारण तो कर्म कामना विषा है जितनी इच्छा है वो इच्छा इतने प्रबल हो जाती है अपने लक्ष्य से हटा देती है इसलिए हमेशा ध्यान रखना मुमुक्षु को निष्काम होना चाहिए और निष्काम ही मुमुक्षु है यदि कामना कुछ रखे तो ऊपर से कहता है मोक्ष मिल जाए इतने इच्छा से मोक्ष मुमुक्ष नहीं कहा जाएगा मुमुक्षुत्वम किम मोक्ष में भूयादित दृढ़ इच्छा हे दृढ़ इच्छा कुछ अन्य इच्छा नहीं हो इतर इच्छा राहित्यम दृढ़ दृढ़ इच्छा में दृढ़त्वम मोक्ष की इच्छा इच्छा में दृढ़त्व क्या है इतर इच्छा रहित अन्य इच्छा नहीं हो निष्काम से मुमुक्षो मुमुक्षु यदि निष्काम है तो कर्म उपासना करे उसको क्या मिलेगा तत्व शुद्धि अर्थम भवती अंतकोण शुद्धि के लिए कर्म उपासना सेवा आदि से अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है इसलिए पहले शुरू से ज्ञान कांड का उपदेश नहीं करके कर्म उपासना कर्म उपासना का उपदेश किया गया काम्यानाम प्रतिसिद्धानाम च फलम तदोष दर्शन वैराग्यार्थम कथयति काम्य कर्म का फल प्रतिषिद्ध कर्म का फल भी कथन करते हैं नित्य नैमित कर्म तो अंतकोण शुद्धि के लिए और कामना से जो कर्म करे काम्य कर्म करे उसका भी कुछ फल है और जो कर्म वेद निषिद्ध है प्रतिषिद्ध है वो कर्म करेंगे तो कुछ फल मिलेगा नरकादि प्राप्ति होगी फल मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा किंतु फल तो मिलेगा काम्यानाम प्रतिषिधानाम च फलम काम्यानाम केशाम कर्मणाम प्रतिषिध कर्म का फल कथयति कहते हैं किसी के लिए कहते हैं वैराग्यार्थम वैराग्याय इदम वैराग्यार्थम वैराग्य के लिए कहते हैं वैराग्य कैसे होगा तद दोष दर्शन तेषा दोष दर्शन है ना काम्य कर्म का फल प्रतिषिध कर्म का फल बताते हैं दोष दर्शन करने से वैराग्य होता है काम्य कर्म का भी फल कहेंगे प्रतिषिध कर्म का भी फल कहेंगे किंतु फल कितने करते किसलिए कहते हैं काम्य कर्म के फल में दोष दर्शन करने से वैराग्य होता है वैराग्य के लिए कहते हैं योग दर्शन में भी योग अनुष्ठान करने से कुछ सिद्धियों की प्राप्ति होती है संयम करने से फल कहा गया वो जो फल कहा गया वहाँ फलों का सम, सम, समझने के बाद अभ्यास करते समय कहीं फल कुछ तो थोड़ी प्राप्ति हो गई तो आगे फल को प्राप्त करने के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए ये सब फल सिद्धि रूप जितने हैं उसमें दोष दृष्टि करे वैराग्य के लिए कहा गया वो भावना जो छूट जाता है वो थोड़ा कुछ चमत्कार पास में आ गया कोई चमत्कार के लिए अनुष्ठान करते हैं दोष दर्शन नहीं हुआ महत्व बुद्धि यदि सिद्धि में है तो दोष दर्शन होगा दोष दर्शन नहीं होगा तो वैराग्य होगा वैराग्य के बिना ज्ञान हो जाएगा इसलिए कोई भी सिद्धि चमत्कार ख्याति धन संपत्ति किसमें महत्व बुद्धि जो करेगा वैराग्य नहीं हो सकता है दोष दर्शन करने से वैराग्य होगा दोष तो है दोष दृष्टि करने पर दोष दिखेगा दोष सब में है और इष्टत्व बुद्धि करके बड़े खुश हो जाता है स्वास्थ्य खराब है किसका पेट बहुत खराब है डॉक्टर मना क्या ऐसा नहीं खाना किंतु उसमें भजन देखा लाल लाल मिर्ची मसाला बहुत दिखता है बड़े खुश होकर के खा लेता है खाना आरंभ करते ही कष्ट होता है और जिसको कष्ट अनुभव बहुत होता है वो देखते ही भोजन देखते से दिखता है ये मिर्ची से में दोष दृष्टि बहुत कष्ट होता है तो थोड़े लालपन दिखा टमाटर टक डाला हुआ वो कहते ना इसमें मिर्ची है फिर धो करके खाते हैं जब कष्ट किसको होता है स्वयं अनुभव करता है तो इसी प्रकार जब काम्य कर्म का फल सुनेंगे प्रतिषिद्ध कर्म का फल में तो दोष दर्शन होगा निषिद्ध कर्म करने पर नरक आदि प्राप्ति कैसे कष्ट सुनने पर वैराग्य तो होगा किंतु काम्य कर्म का फल स्वर्ग में जाएगा जो चाहेगा फल मिल जाएगा कितना है यहाँ बैठे बैठे नहीं मिलता हम हाँ बैठे बैठे जो चाह मिल गया अभी खाने की चाय किसी वस्तु का नाम लिया अब सोचा ही मन सामने वस्तु आ जाए अब ब्रह्मलोक में तो वस्तु की आवश्यकता नहीं उसका स्मरण करते ही उसका आनंद प्राप्त हो गया तो बहुत अच्छा है तो उसमें दोष दृष्टि करने पर दोष उसमें है सारे दोष में सातिशयत्व अनित्यत्व बहुत दोष है सो दोष दर्शन कर्ण से वैराग्य होगा वैराग्य के लिए भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते हैं सकाम से तो ज्ञान रहित से केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ते पुनरावृत्ते च भवन्ति सकाम से तो जो निष्काम उसके लिए तो अंतकोण शुद्धि सकाम होने पर उनका कर्म का फल ऐ कथन करते हैं वैराग्य के लिए ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुः